यकीनन तुम्हारा रब जिसका चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और तंग भी कर देता है वो हमेशा से ही अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला सब कुछ देखने वाला है